अगर विष्णु जी वहाँ पे जो गौरीपुर में जो राहत कार्य चल रहे उसके बारे में क्या कहेंगे आप राहत कार्य सर अभी भी कुछ नहीं पहुँची वहाँ लोग ऐसे चिल्ला रहे हेलीकॉप्टर देख के ऐसे चिल्ला रहे चिल्ला रहे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सर जो बचे भी हैं वो भी मर जाएंगे सर हेलीकॉप्टर वाले कोई नीचे मतलब राशन कार्ड अभी तक पहुंचे नहीं सर मैं खुद वहाँ से आ रहा हूँ लोग इतने परेशान है भूख से मर रहे सर वहाँ चिल्ला चिल्ला के मिल रहे सर वहाँ भी जितने भी बचे हुए